चेखव की संवेदना व्यंग्य हरिशंकर प्रसाई हिंदी कहानी वेदांत राठी द्वारा रिकॉर्ड की गई ट्रैवल के लिए एंटन चेखव बहुत संवेदनशील व्यक्ति और लेखक थे उनके फोटोग्राफ में उनकी गहरी भावपूर्ण आंखें उनकी संवेदना को बताती है पूर्वी तथा अन्य उनके समकालीनों ने उनके बारे में कहा है कोर्की ने लिखा है कि ताल सताए चेखव वो तो देख कर कहते थे देखो कितना कोमल है उसकी उंगलियां स्त्रियों की तरह है शेखव अध्यापकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे वे चाहते थे कि अध्यापकों की आर्थिक हालत अच्छी हो और उनकी प्रतिष्ठा हो पर साथ ही वो चाहते थे कि अध्यापक छात्रों से स्नेह करें उन्हें तंग ना करें पीटे ना मुर्गी ने ही लिखा है कुछ अध्यापक अपनी शिकायतें चीख को सुना रहे थे एकाएक चेखा ने पूछा तुम्हारे क्षेत्र में वह कौन अध्यापक है जो बच्चों को पीटता है संयोग से वो वही अध्यापक था जो सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहा था चेखा की संवेदना व्यापक थी साइबेरिया में जार की सरकार जिन लोगों को देश निकाला दे दी थी वह अत्यंत कष्टमय जीवन जीते थे उनकी हालत देखने चेखव खुद बेहद ठंडे साइबीरिया गए वहाँ कैदियों की हालत देखी वे बीमार होकर लौटे उन्होंने उन लोगों की हालत पर एक किताब भी लिखी चेखव बनावट और पंखड़ को एकदम पकड़ लेते थे एक दिन तीन उच्च वर्गीय स्त्रियां सजी धजी और इतरिन में महकती उनके पास आई वे ऊंचे स्तर बताने के लिए कहने लगी चेकअप साहब ग्रीस और तुर्कों की लड़ाई में कौन जीतेगा चेकअप ने कहा जो अधिक ताकतवर होगा वे इस बात को और आगे बढ़ा रही थी चेकअप ने कहा मुझे सेब का मुराबा पसंद है आप में से कौन सेब का मुराबा अच्छा बनाती है तीनों ने एक साथ बोला मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ आपको ला कर दूंगी उनके जाने के बाद चेखा ने गौरकी से कहा हर आदमी को अपनी भाषा बोलनी चाहिए चेखा की कहानियाँ तथा नाटकों में गहरी संवेदना और पीड़ों भी है और कुछ रचनाओं में व्यंग्य भी चेखव की संवेदना बहुत सूक्ष्म और बहुस्त्रीय होती है वह मनवीय मन में ऐनी जाती है और इसलिए समय सभ्य होती है समय के साथ चेखव की कहानियाँ पुरानी नहीं पड़ती मित नहीं होती इसका कारण समकालीनता में भी मानव मन की शाश्वत स्थिति की पकड़ है उनकी एक कहानी है तितली छोटे शहर की एक लड़की है वह स्थानीय कलाकारों के एक दिन में है वे सब लोग अपने को महान कलाकार मानते हैं और जिस आदमी का संबंध सर सरोकार कला से नहीं है उसे घटिया मानते हैं अपनी दुनिया में मगन है लड़की की शादी एक डॉक्टर से होती है वह हीनता का अनुभव करती है दोस्तों के सामने पति कलाकार नहीं है अब उनके घर कलाकारों का जमघट होने लगता है डॉक्टर बहुत प्रतिभावान है रियो का विशेषज्ञ है आगे शोध कर रहा है वह घर में उन अधकचरे कलाकारों की सेवा करता है उनके कमरे में आकर कहता है भोजन तैयार है उसकी पत्नी उसे इस बात का उल्लाहना देती है कि वह कला में दखल नहीं रखता आखिर वह जवाब देती है हर आदमी हर काम नहीं कर सकता यह तुम्हारे कलाकार मित्र डिप्थीरियो का इलाज नहीं कर सकते वह पत्नी के लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदने के लिए अनुदान से पैसे कमाते हैं लड़की कलाकार मित्रों के साथ बाहर भी जाती है एक दिन वह वहाँ से तार करती है कि मेरा अमुक गाउन दे जाओ आखिर डॉक्टर को विश्वास हो जाता है कि वह उसके प्रति वफादार नहीं रही वह अस्पताल में डिप्थरिय डिप्थरिया के एक मरीज एक मरीज को मवाद नली से चूस लेता है घर जाता है तड़पता है मर जाता है उसका साथी उस तितली को बहुत डांटता है उस कहानी में डॉक्टर की सौम्यता सहनशीलता और और पत्नी के प्रति प्रेम है उधर उसकी पत्नी खेलने वाली हाल की गुड़िया बनी रहती है उसमें तनिक भी समझ और संवेदनशीलता नहीं है पूरी कहानी में गंभीर डॉक्टर सौम्यता और सहनशीलता से पत्नी की फरमाइशें पूरी करता है उधर के अध कचरे अहंकारी अमानवीय लोग जो अपने को महान कलाकार मानते हैं डॉक्टर की साहत का शोषण करते हैं आखिर वह दुर्घटना होती है कि बहुत संभावना वाला डॉक्टर जो मानव जाति के भले के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में शोध करता अपना अंत कर लेता है एक बहुत मामूली तिथि के कारण चेखव की एक और कहानी है अंग्रेजी में शीर्षक है अतरा ऑन द नेक गांव के बहुत गरीब घर की पर बुद्धिमती लड़की है अथवा सुंदरी है पर शहर के किसी होनहार युवक का ध्यान उस पर नहीं जाता आखिर शहर के एक बड़े बाबू जो अधेड़ है उससे शादी करने को राजी होते हैं बाबू को तारीफ में कहा जाता है वह सुधरांत प्रिय आदमी है उस भुखमरी ग्रस्त परिवार में बाबू बहुत बड़ा आदमी माना जाता है शादी हो जाती है रेलवे स्टेशन पर धनपति को विदा करने परिवार आता है लड़की के पिता नशे में धुते हैं रेल चलती है अधेड़ बाबू लड़की के प्रति प्रेम प्रकट करता है पर लड़की रो रही है कि मेरे परिवार के पास शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है अपने घर में लड़की अपनी दीनता में दबी रहती है पति बड़ा बाबू है सिद्धांतवादी आदमी है चेखव की ये लड़कियां अलग अलग तरह की होती हैं यह लड़की तितली सरीखी सपाट नहीं है न एक कहानी की उस कस्बाई लड़की की तरह जिसमें प्रतिभाग नहीं है महान संगीतज्ञ बनने का सपना देखती है वह उसे चाहने वाले डॉक्टर से विवाह करने से इनकार कर देती है और मॉस्को चली जाती है पाँच साल बाद वह निराश होकर लौटती है और चाहती है कि डॉक्टर से शादी कर ले डॉक्टर बदल चुका होता है उसकी जिंदगी का धर्रा दूसरा हो गया है वह इनकार कर देता है वह लड़की अतरा दूसरे दंग की है दीन है अपनी क्षमता जानती है बाल नृत्य मौसम आने वाला है उसका पति उससे कहता है अमुक प्रतिष्ठा महिला से सुझाव लेकर बाल के लिए स्कर्ट बनवा लेना पर वह जानती है वह बढ़िया स्कर्ट बनवाती है पहला प्रतिष्ठा प्राप्त बाल होता है वह खूब नाचती है वह सबसे अच्छा नाचती है वह सुंदरी है वह सर्वोत्तम नृत्य करने वाली मानी जाती है उसे सांस्कृतिक रूप में चीज़ें बेचने के लिए कहा जाता है वह खूब बेचती है सबसे समूहक और सफल अथरा सुबह देर तक सोई है उसके पति के विभाग का अधिकारी भी बाल में नाचा था वह गुलदस्ता लेकर जाता है तब तक वह जाग चुकी है इधर यह बड़ा बाबू हड़बड़ा जाता है अधिकारी गुलदस्ता लेकर अत्रा के कमरे में जाता है उसे उसे गुलदस्ता भेंट करता है तारीफ करता है बढ़ाई करता है बड़े बाबू गदगद है वे अतरा के कमरे में जाते हैं एक नृत्य उत्सव में उनकी नजरों में अतरा को उठा दिया उधर अथरा कल की कल की अथरा नहीं रही वह अपनी और दूसरों की नजरों में बहुत चढ़ गई है उसका पति उसके कमरे में जाता है और कहता है साहब से मेरे बारे में दो शब्द कह देना अथरा भड़क कर कहती है बेवकूफ बाहर निकल जाओ अपनी योग्यता दिखाने को एक मौका मिला था अथवा अच्छा प्रतिभा देखी कर बदल गई अब वह परम स्वतंत्र हो गई वह सैर सपाटे करती है ऊंचे समाज में आती जाती है वह घुड़सवारी करती है घोड़े को तेज दौड़ाती है दौड़ाती हुई अपने गांव की तरफ से निकलती है उसके भाई उसे रोकते हैं पर उसका बाप कहता है उसे मत रोको अब वह नहीं झुकेगी विविध रंगों का चरित्र इस लड़की का है इसका चेखव ने बड़ा तटस्थता जिसे चेखव ने बड़ी तटस्थता से चित्रित किया है यह संवेदना वहाँ भी है जहाँ वे व्यंग्य करते हैं जिस पर व्यंग किया जाता है वह अंतर अपनी मजबूरियों के कारण वैसा विरोधाभासी व्यवहार करता है वह कहानी है एक प्राइवेट स्कूल की स्कूल में वार्षिक उत्सव चल रहा है एक आदमी मुख घोटा लगाकर दो तीन लोगों के साथ वहां आता है और अध्यापक अध्यापकाओं के सामने बदनीजी करता है वे लोग उसे तरह तरह से उतारते हैं सबको उस आदमी पर गुस्सा है एकाएक वह आदमी मुखौटा उतार देता है सब पहचानते हैं वह प्रबंध समिति का अध्यक्ष है गुस्से में भरे अध्यापक बदल जाते हैं वे खुशामद करते हैं हम तो पहले ही जानते थे कि ऐसा मजाक भैया जी के सवार और कौन कर सकता है हम भी गुस्से का नाटक कर रहे थे वाह भैया जी क्या बात है कितनी कानून मजबूरी है अध्यापकों की फाइल समाप्त